रघुपति अनुजहे आवत देखी माहिज चिन्ता केन् विसेखी जनक हरहु व्यकेली आय सुतात वचन मम पेली बन माहे मम मन सीता आश्रम नहि दही पद कमल कर जोरी कहे उनाथ मोहि न खोरी इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है हाँ। अनुज समेत गए प्रभुत गोदावरी तट आश्रम जहवा आश्रम देखे जान के हे नाम भय विकल जस प्राकृतदीनाम् आगुनखाणि जानकी सीता रूपशीलव्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझा ने बहु भाते पूछत चले लता तरुपाते लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए वे विलाप करने लगे हा गुड़ों की खान जानकी हार रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले हे खग मृग हे मधुकर शेणी तुम देखे से तामृग अञ्जन मधुपनिकरको मृगमेना मधुपन को कलाप्रवीणा कुन्दकलिदाीम् दामि कमल शरद वरुण पास मनोज हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा हे पक्षियों हे पशुओं हे भौरों की पंक्तियों तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल कुंदकली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पास कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं सीफल कनक कदली हर साहे ने कुन संक सुनु सपुचमन सुल जानी बिनु आजो पाई जनु जनुरा किमि सह जात अनख तोहि पाहे प्रिया बेगी प्रग टसि कसनाहि यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महावीर हियति बेल सुवर्ण और किला हर्षित हो रहे हैं इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है हे जानकी सुनो तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुक्ष अपमानित और लज्जित थे आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो पूरण काम राम सुख रासे मनुज चरित कर विनाशी आगे परा गिधपति देखा सुमिरत राम चरण जनरे कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुबीर निरख राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया उसके सिर पर कर कमल फेर दिया शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही